सचिव सेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिखबो धे पुनि दीन बोल लघु भाए सौपे सकल भूसुर बोले भरत कर जो रे करि प्रणाम करिप्रणय हो रे ऊच नीच कारज भल पोचो आय सुदेवन कर सको भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा संकोच न कीजिएगा परिजन पुर जन प्रजा बुलाए समाधान करे सुबह सब सालू जगे गुरु गेह बहोरे दण्डवत कहत करजोरी आयसु हो तो रहो सने बोले मुनि तन पुल की सपे मां सब कहब करब तुम जो ये धर्म सारु जग भरत जी ने ब्राह्मणों भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनके सुखपूर्वक बसाया फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा सुन सिख पाए से सबड़े गनक बोल दिन साध सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे बैठा रे निरूपाधि भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया राम मातु गुर पद सिर प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई नंदी गाँव करे परन कुटेरा किन्हन निवासु, धरम धूर धेरा, जटा जोट सिर मुनिपट धारे कुश सा हरि सवारि असन बसन बान व्रत ने करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे भूषण बसन भोग सुख धूरे मन तन बचन तजेति न दे अवधराजु सुर सिहाय दशरथ धनु सुने, धन दुल तुहि पुरबसत भरत बेणुरागा चञ्चरे चम्पक चम्पकबाग रामविरायसो रामयनुरागे तदत मन मे मन बल भाएगी गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़ कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं राम प्रेम भाजन भर तो बड़े नये कर तो ते चातक हंस सराहियत ते कवि कवि फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं वे इस भोगेश्वरीय याग रूप करने से बड़े नहीं हुए अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है पृथ्वी पर का जल न पीने की ठेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है